ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतम् मे मा प्रकाशे प्रणयेनाधीतेन ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु ऐत्र भूमिका के ऊपर भाष्य चल रहा है अवतरण भाष्य आरंभ हो रहा है इस उपनिषद के ऊपर व्याख्या लिखनी है कि नहीं लिखनी है पूर्वादि बोलता है व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान जो होता है वो कर्म संबंधी है और कर्म गृहस्थाश्रम में होता है तो गृहस्थाश्रम में ही कर्म करते करते ज्ञान होगा संन्यास आश्रम की आवश्यकता ही नहीं संन्यास आश्रम है ही नहीं ये पूर्वादि का चर्चा चल रही है पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा है अभी सिद्धांत भाष्य आरंभ नहीं हुआ है पूर्व पक्ष चल रहा है जो पूर्व मीमांसक लोग हैं जो आश्रम में ही रहना चाहते हैं जिनका आग्रह है ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं तो सिद्धांत की ओर से एक शंका उठाई जाए भाई इन श्रुतियों की क्या गति होगी विरजित तदहरे व प्रवर्जित ऐसा श्रुति है जावाल श्रुति है नारद परिव्राजोग परिषद में भी है जिस दिन वैराग्य आ जाए जीवन में उसी दिन संन्यास ग्रहण करें ऐसा जाए वहां कोई आश्रम आदि की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है जो ब्रह्मचार्य के होकर गृह गृह होकर के जाना कोई समाप्त नहीं ब्रह्मचर्य में समाप्त गृह भवे गृह भूतवा बनी भवे बनी भूतवा प्रबल ये तरह था ब्रह्मचर्या प्रवर्तित गृहात्मा पनात्मा ऐसा आश्रम क्रम से संन्यास पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके अध्ययन करे ब्रह्मचर्य आश्रम का अध्ययन आश्रम है वो पढ़ना है उसका काम यही कर्म है पढ़ने का उसके बाद समावर्तन स्नान करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है फिर यज्ञ करना यज्ञ करवाना दान लेना दान देना आदि आदि उसका कर्म है पढ़ना पढ़ाना सड़कर्म होता है उसका गृहस्थाश्रम वो कर्म है गृहस्थाश्रम के बाद बानप्रस्थ आश्रम में जाना एक समय पर बानप्रस्थ आश्रम में जाना आयु के हिसाब से ऐसा क्रम बनाया हुआ है पच्चीस साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना यानी पढ़ना शास्त्र पढ़ना अध्यात्म शास्त्र को पढ़ना उसके लिए जो अंग होंगे व्याकरण आदि पढ़ना और वेद पढ़ना यह सब काम है उसमें ब्रह्मचारी का कर्म ही पढ़ना है और उसके पचास साल होने पर 25 से 50 साल तक आश्रम में रहना 50 साल होने पर जो कार्य जहां जैसा है छोड़ देना जहां भी है फिर यह कर्तव्य बाकी है सोचना नहीं पान प्रस्तुत जाना पचहत्तर साल की आयु होने पर बैराग्य हो न हो संन्यास ग्रहण करना यह क्रम संन्यास ऐसी हमारी परंपरा है ये श्रुति है चावाल श्रुति है नारद परिप्राज की श्रुति है इसमें इतर था था ये तो क्रम क्रम संन्यास हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम में गया आश्रम गया फिर बान वानप्रस्थ बनाया फिर संन्यास ये क्रम संन्यास अथवा अक्रम संन्यास भी है इतर था अन्य प्रकार से भी संन्यास आश्रम में जाना है ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित अनात्मा गृहार ऐसा है जिस आश्रम में बैठा है वहीं से संन्यास ग्रहण करे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही से ही संन्यास ग्रहण कर सकता है गृहस्थाश्रम में है तो वहीं से कर सकता है बान में है तो वहीं से कर सकता है ऐसा श्रुति है ये तो पहले क्रम कहा था बाद में अक्रम संन्यास को कहा था तीसरी बात है यदहरे व विरजे तदहरे व प्रबंधे ऐसा श्रुति है ये जो ब्रह्मचर्य आदि आश्रम से जो संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं जो लोग उनके लिए वैराग्य की प्राधान्य जरूरी चाहिए और जो क्रम से संन्यास में जा रहे हैं वहां वैराग्य न होने पर भी अगर आपकी आयु पचहत्तर साल की हो गई है तो आप संन्यास के अधिकारी हैं चाहे वैराग्य हो चाहे न हो आपको संन्यास शास्त्र में जाना ही है शास्त्र की मर्यादा है वचन है किंतु वैराग्य यदि जीवन में पहले से है संसार से वैराग्य है तीनों लोगों के भोग से निवृत्त है आप उस स्थिति में ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले सकते ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास लेने के लिए वैराग्य के प्राधान्य होना चाहिए जीवन यदि वैराग्य जीवन में है भोगलिप्सु नहीं है बुभुक्षु नहीं है यदि मुमुक्षा है आपके जीवन में मुमुक्षु हैं तो वास्तव में अपने आप को तटोल के देखना आपकी स्थिति में है भीतर मुमुक्षा है कि मुमुक्षा जगी हुई आपकी अगर मुमुक्षा जगी हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास आश्रम जा सकता है आगे आगे यही कहा अथवा यदारह विरजे तदहर प्रवर्जित आया ये यदारह विरजे तदह प्रवर्जित आदि है ये उसके बाद में आता है अथ अप्रतिभा प्रतिभा स्नातको व स्नातको व उत्सव नग्निर्वा निरग्निर्वा यदा रे बदरी रहे तदेव प्रपर ऐसा नहीं है जो अधिकारी नहीं हुए थे संन्यास के उनके लिए भी संन्यास का अधिकारी यदि वैराग्य है तो ऐसा यदि ऐसी स्थिति में हो व्यक्ति व्रति व अप्रतिभा अपने यज्ञोपवित संस्कार आदि से युक्त हो अथवा न हो यदि वैराग्य आ गया तीनों लोगों के भोगों से वैराग्य है हाँ वो संन्यास का अधिकारी हो जाता है संन्यास ग्रहण कर सकता है व्रति व अवृत्ति व स्नातको व स्नातक व अध्ययन पूर्वक गया हो अथवा अध्ययन पूर्वक नहीं गया हो अथवा उत्सव नैवी व निरगी व उत्सव नहीं होता है गृहस्थाश्रम में गया था अग्नि आधान करके बैठा हुआ था अग्निहोत्र आदि कर रहा था किसी कारण से पातक का दोष लग गया उसमें महापाप कोई पाप पातक आ गया उसके जीवन में अब अग्नि आधान कर नहीं सकता उत्सन्न अग्नि हो गया माने बहिष्कृत हो जाता है समाज से बाहर हो जाता है पातकी हो गया किसी कारण से अपराध हो गया तो उत्सन्न अग्नि हो जाता है और निरग्नि हो जाता है कौन विधुर व्यक्ति अग्निहोत्र कर नहीं सकता पत्नी मर जाए अग्निहोत्र नहीं कर सकता अग्निहोत्र करने के लिए सपत्नी चाहिए विवाह के बाद ही करेगा पत्नी भी जीवित होना चाहिए जब तक तब तक अग्निहोत्र कर सकता है अग्निहोत्र के लिए ऐसा विधान है दाम्पत्य दोनों चाहिए तो पत्नी यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो निरग्नि हो जाता हो अब अग्नि आराम कर नहीं सकता हूं विधुर हो गया उसको भी संन्यास का अधिकार दिया यदि यदहरे व विरज तदहरे व पत्नी ऐसा है जिस दिन वैराग्य जीवन में आ जाए संसार से उसी दिन संन्यास ग्रहण करे ऐसी स्थिति है अभिमान सुरापान गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रिड़ी तत्वा सुखी भवा ऐसा आता है यदि आप संन्यास चाहते हैं अभिमान को मजरा पान के समान मानना जीवन में एक अभिमान आ जाता है आपको अपने अपने जीवन में गुण हो कोई विशेष कला हो अथवा सुंदर सौंदर्य हो आपके जीवन में अभिमान और मैं कुछ हूं ऐसा होता है अथवा लेखनी कला हो या बोलने की वक्तृत्व शक्ति हो कुछ भी जीवन में कुछ विशेषता आ गई तो अभिमान आने की संभावना है अभिमानम सुरापानम तो मद्रापान के समान है गौरवम घोर रौरवम जो प्रतिष्ठा आदि जो विशेषता गौरवता है बड़ी स्थिति में रहना वो तो रौरव नर, के समान होगा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा जो प्रतिष्ठा है विशेष पद आदि ये सुवर्ण की विष्ठा के समान है त्रिणी तत्व सुखी भवे ये तीनों को त्याग करके सुखी हो जाए ऐसा अष्टावक्र गीता में कहते हैं संन्यास का अधिकार उसी को माना हुआ है वास्तव में वैराग्य जीवन में कैसा है बमना हारवत यश्य भाति सर्वे समाधिशु तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमान उसी व्यक्ति को संन्यास का अधिकार है जो तो लोकेशा वित्तेशा पुत्रेशा मान संसार के विषय में जितने भी हम इच्छा करते हैं ये तीन इच्छाओं में समावेश हो जाते हैं ये समा मानी इच्छा या तो हम कीर्ति चाहते हैं सबके ऊपर हम हो जाएं हमारे लिए ताली पीट दें और हमें कुछ नहीं चाहिए ख्याति चाहते हैं ये ऐसा है हमारे ऊपर हमारे पास इच्छा विशेष है लोकेश अथवा वित्तीय धन इकट्ठा करने की यशा है हमारे जीवन जितना हो जाए और हो जाए और हो जाए और हो जाए वित्तीय पुत्रेशण जन संग्रह करने की इच्छा है ये सब मैं कब्जा करूं इनको आए सब मुझे प्रणाम करें सब नीचे रहें मैं ऊपर हो जाऊं ऐसी भावना ये लोग ये क्या है माने जन्म यही होता है जन धन कीर्ति तीन के लिए लोग मर, मर जाता है या तो राजनेता लोग होते हैं जन और धन इकट्ठा करने के लिए होते हैं कुछ वृत्त महात्मा होते फिर भी कीर्ति के पीछे पड़े हुए होते हैं उनके पुत्रेशा और वित्तेशा नहीं किंतु लोकेशा जगी हुई होती है ऐसी स्थिति देखी गई नंगे धड़ंगे महात्मा फिर भी मंचर के ऊपर बोलते हैं क्या जरूरत होंगे मंजर के ऊपर जाने का नंगे धड़ंगे अवस्था में स्थिति किया हुआ तो <clears throat> ये बमनाहारवत यश्य भाति सर्वेशा विषु जो उल्टी करता है व्यक्ति उसको बमन, बमन बोलते हैं भीतर के वस्तु बाहर आ जाता है जिसको बमिट बोलते हैं वो बमन बमन आहार जैसे आप तीन दिन के भूखे हैं उसे तो आपने खाया था किसी कारण से उल्टी हो गई बमन हो गया और भूख शरीर भूखा है प्राण भूखा है फिर भी उसको आप नहीं खाएंगे चाहे कितने भी भूखे होगा स्वयं उल्टी किया हुआ व्यक्ति को दूसरा नहीं खाएगा हाँ आपके उल्टी कुत्ता खाए वो अलग विषय है आप स्वयं नहीं खाएंगे उसको इसी प्रकार तीनों यशाओं में जिसको इस तरह से घृणा आ जाए बमनाहारवत उल्टी के समान जैसे बमन के आहार को कितना भी भूखा हो खाएगा नहीं उल्टी किया हुआ आहार कोई नहीं खाता इसी प्रकार तीनों यशाओं में ऐसी घृणा आ जाए लोकेशा वित्तेषा पुत्रेशा भवनाहारवत यश भाति सर्वेशा विष्णु सभी यशा यही है तस्याधिकार संन्यास है उसी के संन्यास में अधिकार उसी को त्यक्त देहाभिमान देहाभिमान को जिसने त्याग दिया है घमंड आता है ब्राह्मणों हम क्षत्रिय हम ऐसा हर जाति में अपना घमंड है विवाह आदि के समय में अपना अभिमान अपने जाति को ढूंढता है जिसको हम छोटे जाति कहते हैं वो भी अपने जाति को ही ढूंढता है दूसरे को नहीं ढूंढेगा विवाह आदि करते समय अपने जाति में सबका अभिमान यह अभिमान सबको बदा हुआ है तो त्यक्त देहा अभिमान ऐसा कहा है संन्यास में अधिकार उसका है तो यहां कहा मारे पूर्वादि बोलता है संन्यास आश्रम है ही नहीं क्यों आत्मज्ञान कर्म संबंधी है या प्रकरण में देखा है इसी आरंभिक में देखा जिस उपनिषद की हम चर्चा करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं तो ये उपनिषद भाग आने से पहले पहले का कर्मकांड भाग है बृहति सहस्र नामक कर्म है वो कर्म के बाद में यहां ब्रह्म विद्या की चर्चा आने वाली है तो पूर्वा पर भाव है इसमें दोनों में तो जो कर्म कर रहा था वही आगे के ज्ञान का अधिकारी होगा ये स्थिति है तो इसलिए कर्म कहां होता है गृहस्थाश्रम में होता है अन्यत्र कर्म होता नहीं है सड़कर्म करने का अधिकार गृहस्थाश्रम में ही है वहीं करेगा कर्म तो कर बृहति आदि कर्म वही करेगा बृहति शास्त्रार्थ कर्म वही करेगा तो वो कर्म करते करते आ गए आत्मज्ञान की चर्चा आ गई तो आत्मज्ञान वही प्राप्त करेगा इसलिए संन्यास आश्रम नहीं है उसी गृहस्थ में गृहस्थ आश्रम में कर्म करते करते कोई ज्ञानी हो जाता है आत्मज्ञानी हो जाता है तो आत्मज्ञान के लिए संन्यास का आवश्यकता नहीं है ये पूर्वादि का कहना है पूर्व पक्ष का कहना है माने हमारे जीवन में भी ऐसी शंका आ सकती होगी यही शंका उठा है अब इसके खंडन आगे चलेगा तो अभी पूर्व पक्ष चल रहा है तो सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाए यदहरे व बिरजे तदहरे प्रबदित यह जावाल श्रुति है जिस दिन वैराग्य आ जाए उसी दिन संन्यास ग्रहण करे ऐसा कहा माने उसमें कोई दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है आयु आदि देखने की आवश्यकता नहीं यदि जीवन में वैराग्य आ जाए वैराग्य किसे मोक्ष से वैराग्य नहीं भोग से वैराग्य आ जाए भोग से मुक्ति से वैराग्य नहीं भुक्ति से वैराग्य होनी चाहिए यदि ऐसा हो जाए मुक्ति से वैराग्य तो है ही है उसके लिए क्या आवश्यकता है आर्जन करने की तो जरूरत ही नहीं है या हाँ, भुक्ति से वैराग्य हो जाए तो जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ग्रहण करे गावावसर ने कहा और नारद परिवार को उपनिषद में भी है और कहा है लोकई समायास वित्तई समायास पुत्र समायास वित्थाया अथ भिक्षाचर्यम करण दी ये वृद्धारण्य उपनिषद में है वृद्धारण्य श्रुति बोलती है तीनों यशनाओं से उठ करके तीनों यशनाओं के घेरे में जब तक रहेगा तब तक संन्यास का अधिकार नहीं है लोके शणायास वित्त शणायास पुत्र शणायास वित्थाय ये तीनों से ऊपर उठ करके तीनों यशनाओं को नीचे छोड़ करके लोके शणा वित्त शणा पुत्र मानी सारी इच्छाओं को समाप्त करके इच्छा समाप्त कर संसार के विषय की इच्छा समाप्त है ऐसा करके तब वित्थाय यहां से उठ करके ऊपर उठ करके अथा उसके अनंतर भिक्षाचर्य चरंती भिक्षा का आचरण करते हैं माने भिक्षाचर्य करना संन्यास ग्रहण करते हैं भिक्षाचर्य करना माने संन्यास ग्रहण करना क्यों वैध संपत्ति छोड़ा हुआ है उसने जीवन यापन करना है भिक्षा करके खाएगा वो अब वहां अपने संपत्ति है ही ना उसके पास छोड़ दिया है उसने सब सब यशा समाप्त करके आया है तो भिक्षा करके जीवन करना है तो ये संन्यास का विधान करते हैं स्तुतियां ये कह रहे हैं यदैरव ब्रजे तदैर प्रवृजेत स्तृति है अथवा वृद्धार्मिक स्तृति है वृद्धाय अथ भिक्षाचर्य चरण संन्यास के विधान कर रही स्तृति तो संन्यास आश्रम क्यों नहीं है ये सिद्धांति पूछते हैं पूर्व पक्ष से और और भी कहा है ब्राह्मण प्रवर्जित आदि स्मृति में कहा है जाए जो ब्राह्मण होगा गृह से बाहर निकल जाए घर में बैठने का अधिकार नहीं उसको मैंने आश्रम छोड़ के बाहर चला जाए संन्यास आश्रम जाए स्मृति भी बोलती इत्यादि श्रुति स्मृतियों का गति यदि संन्यास आश्रम नहीं है पूर्वादि के हिसाब से तो सिद्धांत कहते हैं इन श्रुति स्मृतियों की गति क्या होगी ये भी तो श्रुति है ये सिद्धांत पूछते हैं तो पूर्वादि बोलता है अब अभी पूर्व पक्ष भाष्य पूरा नहीं हुआ सिद्धांत की ऐसी शंका आने पर पूर्व पक्ष कहता है तत्र पारिव्राज्यादि शास्त्र है श्रुतियों में पारिव्राज्य संन्यास विधायक शास्त्र है वो जो शास्त्र है कैसे व्यवथाय अथ भिक्षाचर्यम करंती ऐसा ऐसा शास्त्र है माने तीनों व्यवसायों से ऊपर उठ करके भिक्षाचरण करते हैं माने संन्यास ग्रहण करते हैं ऐसा शास्त्र है हम भी जानते हैं पूर्वादि बोलता है इति इत्यादि जो शास्त्र है जितने भी संन्यास संबंधी शास्त्र जितने भी आए हैं शास्त्र में जहां संन्यास की चर्चा है वह आत्मज्ञान स्तुति पर हो आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए है गृहस्थों का आत्मज्ञान हो गया ये तो अरे सन्यासी है तो आत्मज्ञानी को प्रशंसा करने के लिए वास्तव में संन्यास नहीं है यह अर्थवाद वाक्य है जितने भी संन्यास परक वाक्य आते हैं वो सब अर्थवाद है स्तुति निंदा फलक जो वाक्य होता है अर्थवाद होता है आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए वाक्य है एक तत्र पारिव्राज्यादि शास्त्र व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्य करती ये एक शास्त्र है मान उठ करके कहां से उठना तीन शरणा से उठना है इसके पूर्व में है लोकेश्वरणायास वित्त शरणायास पुत्र शरणायास वित्ताय अथ भिक्षा धर्म थी तीन शरणों से ऊपर उठ करके संन्यास ग्रहण करते हैं यह अर्थ है तो इत्यादि जो आत्मज्ञान की स्तुति के लिए शास्त्र जितने भी हैं संन्यास परक शास्त्र जितने हैं आत्मज्ञान की प्रशंसा स्तुति परो ये कहा अथवा अर्थवाद है स्तुति परक है तो अर्थवाद है शास्त्र उसमें अपने स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता अर्थवाद का वो तो दूसरे की प्रशंसा करने के लिए संन्यास का विधान जो किया संन्यास वास्तव में नहीं है आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए अर्थवाद अथवा अर्थ होगा जो संन्यास में अधिकारी नहीं उसके लिए संन्यास है ये जो जितने शास्त्र हैं जो संन्यास के लिए अधिकारी नहीं है उसके लिए जैसे अंधा व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता लंगड़ा नहीं ले सकता बहरा नहीं ले सकता ऐसे ऐसे संन्यास का अपना है तो वो नारद परिद्रा जो उपनिषद आदि में चर्चा है संन्यास के अधिकारी कौन अनधिकारी कौन जो तो सन्यास के अनधिकारी हैं अधिकारी नहीं है उनके लिए वो काम है सन्यास जो सन्यास विधायक शास्त्र उनके चरितार्थ जो कर्म करने में अधिकारी है वो सन्यासी नहीं वो तो कर्म करता रहेगा या वह जीवे अभिशोत्रम जुया उसके लिए तो यही है अंग विकल है वो उसके लिए सन्यास के विधान के लिए यह शास्त्र में बोल दिया है अथ भिक्षाचर्य तरह दिया पूर्वाजी ने कहा अब सिद्धांत भाष्य आता है न बहुत लंबा पूर्व पक्ष हो गया है अब एक एक करके पूर्वादि के बातों को खंडन करेंगे और सिद्धांत भाष्य आरंभ हो रहा है न सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं क्यों परमार्थ विज्ञान है फलादर्शन क्रिया निर्भरती है परमार्थ ज्ञान होने पर परमार्थ वस्तु को देखे जाने पर फल जब नहीं दिखाई पड़ता है कर्म का फल नहीं दिखाई पड़ता है तो क्रिया नहीं कर्म नहीं हो सकता कर्म किसके लिए कहते हैं फल के लिए तो परमार्थ विज्ञान हो गया है परमार्थ दर्शन हो गया आत्मदर्शन हो गया आत्मज्ञान का फल आत्मदर्शन हो गया तो इसलिए क्रिया कर्म का फल नहीं दिखेगा उसको न देखने पर कर्म नहीं हो सकता ये सिद्धांत हो उस समय में कर्म नहीं हो सकता है यहां पर कहना चाहते हैं देखो सन्यासी दो प्रकार के सन्यासी हैं एक विद्वत सन्यासी एक अविद्वत सन्यासी ज्ञानोत्तर सन्यासी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते तो गुरुकुल में बैठे बैठे पढ़ता रहा चारों वेद पढ़ा वेद के अंदर सारे व्याकरण आदि सारा पढ़ा अच्छा तो उसके वेद पढ़ने से उपनिषद भाग भी पढ़ा है उसने उपनिषद भाग भी पढ़ा तो महावाक्य भी पढ़ा महावाक्य जन ज्ञान भी ज्ञान भी हो गया उसको हो गया तो आत्मज्ञान हो चुका है एक व्यक्ति ऐसा है तो वो बाद में कर्म नहीं करेगा आश्रम में नहीं जाएगा वो तो विद्वत सन्यासी माने ज्ञान पूर्वक सन्यासी पहले ज्ञान हो चुका है उसके बाद सन्यास उसके लिए कोई गुरु आदि की आवश्यकता नहीं उसको संन्यास तो हम बोल देगा शिखा सूत्र अपने आप निकाल के फेंक देना विद्वत सन्यासी ज्ञानोत्तर संन्यास एक होता है ज्ञान के लिए संन्यास आज ये संन्यास की परंपरा जो चल पड़ी है आज के दिनों में ये विविदिशा संन्यास के हिसाब से है विद्वत संन्यास के हिसाब से है माने हम करें न करें हमारे गुरुजनों की धारणा यही है ये व्यक्ति आज संन्यास ग्रहण कर रहा है सन्यास माने कर्मों का त्याग कर रहा है कर्म त्याग करके इधर आया है तो वेदांत श्रवण मनन मनन निर्ध्यासन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा मान आत्मज्ञान प्राप्त करेगा ये उद्देश्य से संन्यास दिया जा रहा है और वो करता कि नहीं करता अलग विषय है मैंने गुरुजनों की भावना यही होती है आज की आज के दिनों माने विभिषा संन्यास व्यक्तुम इच्छा विविदिशा उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा है इसलिए वो कर्मों को परित्याग करके वर्णाश्रम विहित कर्म परित्याग कर देगा वो परित्याग करने के लिए उसके जो साधन थे कर्म करने का साधन शिखा सूत्र उसको परित्याग करेगा शिखा सूत्र के माध्यम से कर्म करता था उसको परित्याग करके संन्यास आश्रम का ग्रहण करता है ये विविदेशा संन्यास है स्थिति विविदेशा संन्यास की है तो यहां अभी जो फलादर्शन परमार्थ विज्ञान है फलादर्शन क्रिया अनुपति का ये विद्वत सन्यासी को लेकर के कहा अब यहां काफी लंबा चलेगा विद्वत सन्यासी को लेकर के तो माने सन्यासी कर्म नहीं करेगा ये कहना चाहते हैं क्यों माने ज्ञान हो चुका है उसको उसको परमात्म दर्शन हो चुका है आत्म दर्शन हो चुका है आत्म साक्षात्कार कर चुका है परमात्म दर्शन है आत्म साक्षात्कार है आत्म साक्षात्कार है विद्वत सन्यासी हो फलादर्शन कर्म का फल नहीं दिख रहा उसको स्वर्ग आदि फल नहीं दिखता इसलिए क्रिया कर्म नहीं क्रिया माने कर्म नहीं हो सकता ये विद्वत सन्यासी को लेकर के चर्चा है अब अविद्वत सन्यासी आगे माने ज्ञानी और अज्ञानी दो प्रकार के हैं ज्ञानी तो विद्युत सन्यासी हो गया अज्ञानी में आएगा दो एक बुभुक्षु अज्ञानी एक मुभुक्षु अज्ञानी अज्ञानी के दो कोटि होंगे ज्ञानी तो ज्ञानी है वो विद्वत सन्यासी है वो वो ज्ञानी है और अज्ञानी दो कोटि के हो जाते हैं बुभुक्षु और मुमुक्षु तो मुमुक्षु में है विविधिशु सन्यासी अभी अज्ञानी है ज्ञान नहीं वो ज्ञान के लिए तो सन्यास लेने जा रहा हो अज्ञान है कि तो मुमुक्षु कोटि का है दूसरा अज्ञान यह बुभुक्षु कोटि का है संसार चाहता है वो एक अज्ञानी तो किंतु संसार से वैराग्य है संसार नहीं चाहता इसलिए संन्यास ग्रहण करता है वो विविदिशु सन्यासी है विविदिशा है उसके पास यह है उसके बारे में बाद में बोलेंगे वो कर्म करना उसका अधिकार है कि नहीं वो बाद में भी करता है अभी विद्वत सन्यासी कर्म नहीं कर सकता ये बोलना चाह रहे हैं आगे सत्र पृष्ठ के बाद में अब मैंने अभिगत सन्यासी के लिए बात करेंगे यानी विदिशु सन्यासी की बात आगे करेंगे पहले विद्वत सन्यासी क्यों कर्म नहीं करता परमार्थ दर्शन है उसको परमार्थ साक्षात्कार हो चुका है क्यों वो ज्ञानी है आत्मज्ञान हो चुका है परमार्थ दर्शन है परमार्थ विज्ञान है परमार्थ विज्ञान हो गया परमार्थ जो आत्मज्ञान होने पर फलादर्शन है कर्म का फल नहीं दिख रहा उसको इसलिए क्रिया अनुपत्य कर्म अनुपत्य कर्म नहीं हो सकता इसके द्वारा कर्म होना संभव नहीं इसलिए कर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं ये सिद्धांत ज्ञान पूर्वाधिक का रहा था कर्म संबंधी आत्मज्ञान है कहते हैं कर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं ये विद्वत सन्यासी पक्ष ध्यान देना आगे सत्र पृष्ठ के बाद में विविदिशा संन्यास के बारे में आएगा वो कर्म करेगा कि नहीं करेगा बाद में चर्चा होगी यानी यह संन्यास दो प्रकार के संन्यास में विद्वत सन्यासी को लेकर के अभी भाष्यकार अर्थ ले रहे हैं परमार्थ विज्ञान है फलादर्शन क्रियानुपत्य कहा टिप्पणी देते हैं परमार्थ विज्ञान यदि इतना आरभ्य यहां से आरंभ करके ध्यान दे रहा ये सिद्धांत भाष्य है यहां से आरंभ करके इस प्रकाशन में जो सत्रह नंबर के पृष्ठ है वहां पर विदुष कर्तव्य तो उपत्ति ऐसा आया है वहां सत्र पृष्ठ में देखना विदुषा कर्तव्य तो उपत्ति माने कर्माभाव कर्तव्य होता है उसका ऐसा आया है माने पूर्व प्रदेश तद अधिक्रमे यत्न गौरवात अर्थ प्राप्त से व्युत्थान से पुनर्वचना विदुषा कर्तव्य अर्थ प्राप्त से विद्वान से जो अर्थ प्राप्त है क्या व्युत्थान उसमें कर्तव्य है ज्ञानी का ऐसा दिखाएंगे यहां तक का जो भाष्य है विद्वत सन्यासी को एक टिप्पणी अनुभव है परमार्थ विज्ञान यदि इत आरभ्य यहां से आरंभ करके सत्र पृष्ठ में देखना है कर्तव्य तो उत्पत्ति इति यावत जहां कर्तव्य तो उपत्ति पंक्ति है वहां तक विद्वत संन्यास चर्चते विद्वत संन्यास की चर्चा होती है इति अवधेयम ऐसा कहा उसके आगे अविद्वत सन्यासी के बारे में कर्म संबंधी आत्मज्ञान होता है कि कर्म के अभाव व्युत्थान पूर्वक आत्मज्ञान होता है बाद में चर्चा करें माने विद्वत सन्यासी के तो कर्म होना संभव नहीं क्यों यही पंक्ति दिया है परमात्म विज्ञान है फलादर्शन है क्रिया अनुपत्ति विद्वत सन्यासी को लेकर कहा वो परमार्थ दर्शन में है वो परमार्थ विज्ञान हो चुका है उसको क्यों ज्ञानोत्तर संन्यास है ना उसका ज्ञान हो चुका है स्थिति में फला दर्शन कर्म का फल नहीं दिखता उसको स्वर्ग आदि फल नहीं दिखेगा इसलिए फल नहीं दिखेगा वो तो कर्म नहीं करेगा भूख नहीं लगती है तो खाना क्यों पकाएगा वो फल इच्छा जो होती है साधन इच्छा की प्रेरिका होती है फल की इच्छा से साधन में इच्छा होती है साधन करने की इच्छा होती है फल नहीं चाहे तो साधन क्यों करेगा नहीं करेगा क्रियानुगत इसलिए कर्म नहीं हो सकता है विद्वत सन्यासी में कर्म नहीं हो सकता इसलिए कर्म असंबंधी आत्मज्ञान होता है कैसा ज्ञान होता है कर्म संबंधी नहीं कर्म असंबंधी आत्मज्ञान यह संन्यास आश्रम है सिद्ध कर हैं यद उत्तम पूर्वादि ने जो कहा था भाष्यकार बोल रहे पूर्व पक्ष ने कहा था पहले क्या कहा था कर्मिणा एवं आत्मज्ञानम कर्म संबंधी कर्मी को ही आत्मज्ञान होगा गृहस्थी को ही आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान कर्म संबंधी है ऐसा दो बातें बताई थी कर्मिणा एवं कर्म संबंधी एवं कर्मी को ही आत्मज्ञान मान गृहस्थाश्रम में होगा ये कहा था पूर्वादि ने और दूसरा कर्म संबंधी ही रहेगा आत्मज्ञान ये जो कहा इत्यादि तम न ये बात न कर्मी को आत्मज्ञान होना है न कर्म संबंधी आत्मज्ञान है दोनों बात नहीं परम ही आपकाम सर्व संसार दोष वर्जित ब्रह्म अहम अस्मृति आत्मत्व विज्ञान कृतेन कर्तव्य न प्रयोजनम आत्मनो अपश्यत फलादर्शने क्रिया अनुपत्ति ये परमात्म दर्शन फलादर्शने क्रिया अनुपत्ति ये जो संग्रह वाक्य था उसकी व्याख्या है कहते हैं देखो कर्मी को ही आत्मज्ञान होता है और कर्म संबंधी होता है करके पूर्वादि ने जो तर्क दिया था यानी गृहस्थाश्रमी में ही कर्म आत्मज्ञान होगा और कर्म संबंधी आत्मज्ञान है कहा था वो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता ज्ञान हो चुका है उसको पढ़ते पढ़ते वो गृहस्थाश्रम में जाएगा ही ना वो क्यों देखो परम ही आप आप्तकामम सर्व संसार दोषम ब्रह्माष्टम परमात्मा कैसा है आप्तकाम है कुछ चाहिए नहीं हम्म। कुछ अप्राप्ति की प्राप्ति होनी चाहिए उसको अप्राप्त कुछ नहीं है व्यापक है उसको कुछ भी नहीं चाहिए जब शरीर भाव में आता है तो सब कुछ चाहिए होता है शरीर भाव से ऊपर में कुछ नहीं चाहिए हमें जब सुसुप्ति में कुछ नहीं चाहिए होता हम ऐसी स्थिति में होते हैं जो भी चाहिए जागृत और स्वप्न में चाहिए क्यों शरीर विशिष्ट हो जाते हैं हम जागृत स्वप्न तो हमारे लिए नहीं चाहिए शरीर के लिए चाहिए ऐसी स्थिति होती है परमात्मा का स्वरूप है परम ही आप्त काम काम है वो अप्राप्त वस्तु कुछ भी नहीं उसमें ऐसा है सर्व संसार दोष वर्जन संसार दोष जितने भी सबसे रहित है वो परमात्मा उस उस ब्रह्म को अहम अस्मि करके जो जान गया ऐसे परमात्मा मैं हूं ऐसा जान गया हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है और परमात्मा कैसा है आप तक आम है और सर्व संसार दोष से रहित है संसार के कोई दोष नहीं हुआ ऐसा परमात्मा को जो अपने स्वरूप मान लिया जिसने मान करके बैठा हुआ है हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ व्यक्ति है वह हम आत्मत्व विज्ञान है अपने आत्मभाव से इदम त्यो ने अहम त्यो ने जान लिया जिसने ब्रह्म को मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा समझा है उसको ज्ञान होने पर न कर्तव्य न प्रयोजन अपश्य दो प्रकार के कर्म होते हैं ये तो कृत कर्म कृत कर्म होगा उसका फल क्या कर्तव्य आगामी कर्म होगा आगामी जो कर्तव्य रहेगा हमारे लिए करना है करके ये दोनों कर्मों का प्रयोजन फल न देखने पर जो आत्मभाव में ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसके लिए कृतकर्म का और कर्तव्य कर्म दो प्रकार की कर्म पूर्वकृत कर्म पहले किया है कर्म कुछ ज्ञान से पहले किया या ज्ञान के बाद करना यह कर्म का फल प्रयोजन माने फलम आत्मनो अपना अपने लिए कोई फल नहीं दिखता उसको वो तो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ है और ब्रह्म कैसा है सर्व संसार धर्म वर्जित है और आप तक आम है उसको कुछ चाहिए ना ऐसी स्थिति वाला है ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा उसके लिए कृत किया हुआ कर्म का फल या कर्तव्य कर्म का प्रयोजन न देखने वाला का फलादर्शन जब फल नहीं देखेगा तो क्रिया न होते जब फल नहीं देखेगा तो कर्म क्यों करेगा फलेच्छा जो होती है साधन इच्छा की प्रेरिका होती है स्वर्ग की इच्छा होगी स्वर्ग सुना हुआ शास्त्र में तो उसके साधन करने की याग आदि करने की इच्छा होती है याग आदि करने की इच्छा क्यों जगी पहले स्वर्ग स्वर्ग की इच्छा हुई स्वर्ग की महिमा सुनी वहां ऐसा है ऐसा भोग मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा तो याग आदि करने के साथ इच्छा हो जाती है फलेच्छा साधन इच्छा की जननी है जब फल की इच्छा पैदा हो गई तो साधन इच्छा जरूर पैदा होगी ऐसी स्थिति है तो यहां फल नहीं है उसके तो कर्म क्यों करेगा वो फल के लिए कर्म करना था तो फल नहीं मिला क्यों वो परमात्मा भाव में बैठा हुआ है ये कहा परम ही आप तक आम हम सर्व संसार दोष परितम ब्रह्म जो परम ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है आप तक आम है कोई संसार दोष उसमें नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कोई भी राग द्वेष आदि कोई संसार धर्म नहीं है ऐसा दोष रहित जो ब्रह्म है उसको अहम अश्मी करके बैठा आत्मत्व न प्रतिपन्ना ऐसा भाई विज्ञान हो गया उसको ऐसी स्थिति विद्वत सन्यासी हो उसको उस स्थिति में कृत्य न कर्तव्य कृतकर्म अथवा कर्तव्य कर्म पहले कर चुका है या करना है जो कर्म है उसका प्रयोजन वापस फल नहीं दिखता उसको तो, तो आत्माभाव में बैठा हुआ है इसलिए फलादर्श में क्रिया न होती कहा जब फल नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्रिया कर्म नहीं हो सकती उससे इसलिए कर्म ही आत्म कर्मी को ही आत्मज्ञान होता है ये भी नहीं होता कर्म संबंधी आत्मज्ञान भी नहीं कर सकते ये कहा पूर्व पक्ष बोलता है नहीं नहीं फल न देखने पर भी करना पड़ेगा शास्त्र का वचन है शास्त्र वेद बोल रहा है आदेश है वेद का आदेश है क्यों यावत जीवित अभिनव क्यों चुके वो भी तो अभी जीवन में है ना जो ज्ञानी यावत जीवन अभिनंत्र चूया तो पुला हुआ है हाँ। ऐसी स्थिति है पूर्वन्य कर्माणी जीजु सतम समा इत्यादि बहुत सारे शास्त्र हैं तो पूर्वादि बोलता है फलादर्शन है फल नहीं दिखता उसको ठीक है वो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ है हम ब्रह्मास्त्र भाव में है फल नहीं दिखा फिर भी कर्म करना पड़ेगा उसको शास्त्रीय कर्म करना पड़ेगा क्यों फलादर्शन है नियुक्त शास्त्र का आदेश है नियोग है यावत जीवित या विधुया विधिलिंग का प्रयोग है वहां उसको हवन करना ही पड़ेगा फलादर्शन भी नियुक्त करोती चेत वो करेगा ही कर्म कर्म करेगा ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत बोले न कर्म नहीं कर सकता नियोगा विषय आत्मदर्शनाथ अरे बाबा जो आदेश का विषय नहीं होता वो आत्मदर्शन उसको हो चुका है इसलिए वो कर्म नहीं करेगा योगा विषय आत्मदर्शनाथ हेतु दिया सिद्धांत जो आदेश का विषय नहीं है श्रुति जिसको कुछ आदेश नहीं दे सकती उस आत्मा को आदेश उस आत्मा को देती है जो शरीर भाव में बैठा हुआ है मैं मनुष्य हूं उसके लिए यावत जीवित अभिनतों की क्या तू अपने मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं आदि तुझे जाति अभिमान है देहाभिमान है तो कर्म करते रहो ऐसा बोला हुआ है आत्म शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ है आत्मा भाव में गया हुआ है वहां पर कोई शास्त्र उसको आदेश नहीं दे सकता ये कहा नियोगा नियोगा विषय आत्मदर्शन नियोग का जो अभिषय आत्मा है आदेश का विषय नहीं आत्मा मैंने आप नहीं कर सकता आत्मा के लिए उसके आत्मदर्शन आत्मज्ञान हो चुका है उसको क्यों कर्म कौन करता है इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च आत्मना प्रयोजन पश्चिम तद उपायार्थी वो बहुत ही सदयोग से विश्व दृष्टा लोके ऐसा देखा है लोक में माने वो किसी का आदेश का विषय ऐसा करो ऐसा करो कौन करेगा लोक में देखा है इष्ट का योग चाहिए जिसको इष्ट वस्तु का प्राप्ति चाहिए अनिष्ट का वियोग अभाव करना हो अनिष्ट को हटाना है इष्ट को लाना है ऐसी स्थिति है इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम चाहे आत्मा प्रयोजन पसंद ये प्रयोजन दिखता है उसको इष्ट को एकत्रित करना प्रयोजन दिखता है या अनिष्ट को हटाना प्रयोजन दिखता है अपने लिए ऐसा प्रयोजन जब दिखता है क्वेश्चन ऐसा देखता हुआ तद उपाय उसको उपाय ढूंढ रहा हो इष्ट योग कैसा मिले इष्ट वस्तु कैसे प्राप्त हो अनिष्ट वस्तु कैसे दूर हो जाए उसको उपाय कारण रहा है उपाय अभी जो भवती जो होता है सनियोग नियोग भवती कोई व्यक्ति बोलते ऐसा करो ना ऐसा बोल देगा तो आदेश का विषय बन जाएगा वो स नियोग से विषय दृष्टो लोक लोक में ऐसे देखा है जो इष्ट चाह रहा हो तो कोई बोला ऐसा करो मिल जाएगा बोल देगा अनिष्ट दूर करना चाहता ऐसा करो दूर हो जाएगा कोई बोल देगा उसका आदेश का विषय हो गया वो लोग में ऐसा देखा है दृष्टो लोके कहा न तो तद विपरीत हो वियोग वियोगा विषय ब्रह्मात्म दर्शी उससे विपरीत जो इष्ट योग भी नहीं चाहता अनिष्ट वियोग भी नहीं चाहता क्यों इष्ट अनिष्ट भाव से ऊपर है वो आत्मभाव में बैठा हुआ है नियोग का जो अभिषय ब्रह्म है उसको आत्म रूप से देख रहा है वो आत्मदर्शन में है हम ब्रह्मास्म भाव में पहुंचा हुआ है शरीर भाव में नहीं है तो वहां इष्ट योग अनिष्ट वियोग आदि कुछ भी नहीं होते वहां उस स्थिति में न तो तद विपरीत जो इष्ट योग और अनिष्ट वियोग प्रयोजन नहीं दिखता जिसको उसके नियोग का जो अभिषय ब्रह्मात्मत्व दर्शी है नियोग का विषय नहीं बनता आदेश का विषय नहीं बनता जो ब्रह्म को आत्मरूप से देखना जिसका स्वभाव बन गया ऐसे व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर सकता यही कहा शास्त्र का नियोग का विषय नहीं बनता ये कहा टिप्पणी दृष्टा दृष्टो लोके देखो स्वास्थ्यार्थम औषधम सेवमान ही रुग्ण पथ्यादि विषय विषम नियोग विषय नियोग विषय दृश्य भाव देखो भाई जो व्यक्ति रोगी हो गया था अपना स्वास्थ्य चाहता है स्वस्थता चाहता है चाहेगा स्वास्थ्य अर्थम स्वस्थता के लिए औषधम सेवन हो औषधि का सेवन कर रहा है वैद्य के पास गया वैद्य ने दवाई दिया है दवाई खाने लग गया रोग है वह रुग्ण है रोगी है वो पथ्यादि विषय विषम नियम विषय दृष्टि और पथ्य अपथ्य क्या क्या खाना क्या नहीं खाना ये दवाई के साथ उसके लिए जो पथ्य के बारे में वैद्य ने जैसा बोला वो वैद्य से आदेश का पालन करेगा ये चीज नहीं खाना तो नहीं खाएगा ये चीज खाना खाएगा तो दवाई खा रहा है दवाई चल रही है तो ऐसा देखा है नियोग का विषय वही होता है कुछ चाहता हो या रोग हटाना चाह रहा हो इसलिए वैद्य के नियोग का विषय बन जाता है आदेश का विषय बनेगा ये ये नहीं खाना नहीं खाएगा ये खाओ खाएगा ऐसा देखा है लोग ऐसे यहां भी है इष्ट योग अनिष्ट वियोग के उद्देश्य करके जो चलना चाहे उसको उपाय ढूंढता हो वो उपाय बताने वाले का आदेश हो जाएगा उसकी बातों को मानेगा वो किंतु न तो तद विपरीत हो नियोगा विषय परमात्मदर्शी ये भाषण का उससे विपरीत जो व्यक्ति होगा जो इष्ट जिसके दृष्टि में इष्ट योग भी नहीं अनिष्ट योग भी नहीं सर्वम खल इदम ब्रह्म इस भाव में पहुंचा हुआ हम ब्रह्माष्टमी को पहुंचा हुआ है शरीर भाव से ऊपर है वो शरीर भाव में हो तो इष्ट योग अनिष्ट योग आदि घेर लेते उसको शरीर भाव में नहीं है वो ऐसे व्यक्ति योग का विषय है किसी शास्त्र का अग्निहोत्र जूयाद का वो नहीं बनेगा जो तो अग्निहोत्र का हवन करने वाला शरीराभिमानी हो तब ना वो शरीर अभिमान से ऊपर है योग का विषय नहीं होता आत्मदर्शी कहा ब्रह्मात्मत्वदर्शी अपनी सन नियोज्यता यदि ऐसा हो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति ब्रह्म को आत्म रूप से जान रहा है अहम ब्रह्माष्ट में पहुंचा होगी यदि उस शास्त्र का नियोग का विषय बन जाए अग्निहोत्र जूहयात आदि वाक्य का यदि विषय बन जाए ब्रह्मात्मत्वदर्शी अपनी जो ब्रह्मात्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है वह भी ऐसा होता हुआ विषम चेत नियोज्यत यदि वो भी नियोग का विषय बन जाए आदेश का विषय बन जाए अग्निहोत्र जो याद आदि वाक्य का पालन करने का अधिकार मिले उसको तो क्या होगा नियोज्यता नियोगा विषय की सन नियोग का अविषय होता हुआ भी यदि नियोग के विषय बन जाता हो परमात्मा भाव में पहुंचा हुआ भी तो योग का विषय है योग का विषय होता हुआ भी यदि योग का विषय बन जाता हो तो क्या होगा तो उस स्थिति में क्या होगा न कश्चित न नियुक्त सर्वम कर्म सर्वे सर्वदा कर्तव्य प्राप्त उस स्थिति में फिर फिर क्या होगा कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं है ऐसा नहीं होगा नियुज्य नहीं है नहीं कह सकते इसलिए सभी कर्म सभी के द्वारा होना चाहिए ब्राह्मण का कर्म क्षत्रिय से क्षेत्रीय का कर्म ब्राह्मण से होने लग जाएगा क्यों सब नियोग के विषय हो जाएंगे माने नियोग का अविषय होता हुआ भी अगर नियोग का विषय बनता हो तो वहां भी नियोग का विषय न होने पर जैसे ब्राह्मण का कर्म क्षेत्रीय के लिए आ जाएगा क्षेत्रीय का कर्म ब्राह्मण करने लग जाएगा ऐसा कहा ये कह रहे हैं दर्शी अपनी सन ब्रह्मात्मा भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति भी चेत अनियोगा विषय भी नियोज्यता नियोग का विषय न होने पर भी वो व्यक्ति यदि शास्त्र का नियोग का विषय आदेश का विषय बनता हो यदि मैंने अवनोतरम जो जाता आदि वाक्य उसको पालन करना हो यदि शास्त्र का आदेश को पालन करना हो पढ़ता हो नियोग का विषय न होने पर भी तो क्या होगा न कश्चित न नियुक्त फिर कोई भी न नियुक्त नहीं हुआ सभी नियुक्त हो जाएंगे इसके लिए सर्वम कर्म सर्वे सदा सर्वदा कर्तव्य प्राप्त होगी सभी कर्म सभी के द्वारा सभी काल में करना प्राप्त हो जाएगा क्यों सब नियुक्त है माने विपरीत कर्म विपरीत काल में सभी से कर्तव्य होगा तच्च अनिष्टम ऐसा तो अनिष्ट होगा सभी का कर्म सभी नहीं करेगा नहीं करता क्यों उस कर्म में उसका नियोग का विषय नहीं है इसी प्रकार परमात्मा भाव में गया हुआ व्यक्ति का कर्म में अधिकार नहीं है ये उत्तर दे रहा आगे बोलते हैं न तो सर नियोग तुम सख्य थे रचित दूसरी बात कहेंगे महाराज और लोग तो वेद तो अनादि अपौरुष है ना तो उसके बाद तो मानना पड़ेगा उसको अभिनेत्र वाक्य तो वेद का है तो आत्मज्ञान में बैठा हुआ ब्रह्मात्मा भाव में है शरीर भाव से ऊपर है फिर भी उसको मानना पड़ेगा पूर्वाजी यदि कहेगा तो कहते हैं न तो स नियोतम सज्ञ के न किसी के द्वारा भी उसको नियोग नहीं किया जा सकता क्यों शरीर भाव से ऊपर है ब्रह्मात्मा भाव में है किसी के द्वारा भी नहीं होता कि कोई भी उसको अधिकार नहीं जमा सकता उसके ऊपर आमनाय से आदि तत्पूर्व जो वेद है शास्त्र भी उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है तस् महतो भूत निश्चित मृगवेद ऐसा आता है हाँ, अथर्वेद सामवेद सारा उसी से निकला हुआ है उसके श्वास प्रश्वास के समान है ऐसा आया है उसी से निकला क्यों वो परमात्मा भाव में पहुंचा हुआ ब्रह्मात्मा भाव में ब्रह्म रूप में है ब्रह्म रूप में उसे परमात्मा से वेद उत्पन्न है सारे वेद निकले हुए हैं एक कहते हैं आमना या श्यापी जो वेद है शास्त्र है ये भी तत्प्रभुत्व उसी से उत्पन्न है क्यों वो ब्रह्म भाव में है इसलिए न ही वो जो माने स्वयं से उत्पन्न जो शास्त्र होगा उसको अधिकार नहीं जमा सकता ही कहते नहीं स्वविज्ञान उत्थे नपचा स्वयं निर्जते अपने विज्ञान से उत्पन्न जो वाणी है जो जो भीतर में स्मरण आया उसको लिखता गया है बाणी बोलता गया वो जो वाणी उसी को नियोग नहीं कर सकते दूसरे के लिए बोलेगी वो बाणी नहीं उठे न नपचा अपने विज्ञान से उत्पन्न जो वाणी है वेद वाणी है जैसे जैसे भीतर विज्ञान आया वैसे वाणी बोलते गए वेद बोला है उसने वह वही वचन के द्वारा स्वयं न नियुक्त स्वयं की नियुक्ति नहीं होती ना भी बहुविध स्वामी अभिवेकना वृत्ति दूसरी बात यह भी है जो लिखने वाला बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वह जो लिखा जाता है ग्रंथ जो बोला जाता है वाक्य उसके ज्यादा ज्ञानी होता है भीतर में ज्यादा ज्ञान है उसका उतना ही नहीं आज जो प्रवचन देगा उतना ही ज्ञान उसने और भी ज्ञान है उसके पास ऐसा होता है तो वेद उस ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति से निकला हुआ है निकला हुआ वाणी है वो वाणी जितनी है उतने ज्ञान में अधिक ज्ञान उसमें है यही कहते हैं इसलिए बहुविध स्वामी जो होगा ज्यादा जानने वाला जो स्वामी होगा वो अविवेकन वृत्ति है ना न नियोग कर सकते उसको नियोग नहीं किया जा सकता वेद भी उसके सामने छोटा है ये कहते हैं पूर्वादि बोलता है महाराज आमनाय से नित्य सती स्वातंत्र जो वेद है ना आमनाय वेद है वेद कैसे है नित्य भी है स्वतंत्र भी है इसलिए उसको मानना पड़ेगा ज्ञानी को भी वेद के वचन को मानना पड़ेगा यावत जीवित अग्नोत्रों की याद उसको पालन करना पड़ेगा ये पूर्वादि का कहना है आमनाय से नित्यत्व सती आमनाय वेद नित्य होता हुआ स्वातंत्र स्वतंत्र है वो इसलिए किसी के अधीन नहीं होगा वो सर्वान प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्य सभी के प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्य उसमें है नियोक्ता है नियंत्रण करने की सामर्थ्य है तो सब में तो ये भी आ जाएगा ज्ञानी भी आ जाएगा क्यों वो नित्य है और स्वतंत्र है वेद इसलिए सबको नियंत्रण करने की सामर्थ्य उसमें है शक्ति है वेद में इसलिए ये ज्ञानी को भी वेद के जो वचन है मानना पड़ेगा यावत जीवे अभिनोत्तम मानना पड़ेगा ये पूर्वादी करता है पूर्वपक्षवासी आमनाय से नित्यत्व स्थिति स्वातंत्र वेद जो है नित्य होता हुआ स्वतंत्र होने से सर्वान प्रति वहां ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं सबको लिया जाएगा ज्ञानी को भी सर्वान प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्य उसमें सामर्थ्य है वेद में नियंत्रण करने का सामर्थ्य है उसका आदेश का पालन सबको करना होगा यदि चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत न उक्त दोषा वही दोष आ जाएगा अगर अनियुक्त नियंत्रण में न होने वाला भी नियम वेद के कहने से मानने लग जाता सभी कर्म सभी के द्वारा करने का आ जाएगा तो जो यज्ञ का विषय न होता हुआ भी योग का विषय होने लग जाए तो सभी कर्म सभी के द्वारा होना वही दोष आ जाएगा तथापि फिर भी यही होगा सर्वेण सर्वदा सर्वम शिष्टम कर्म कर्तव्य फिर भी चलो अशिष्ट कर्म तो नहीं करेगा कोई वेद बोलता है तो फिर भी सभी के द्वारा सर्वदा हम सभी काल में सर्वम शिष्टम कर्म जो ठीक अच्छा काम होगा सभी के द्वारा प्राप्त भी होगा कर्तव्य उक्तो दोषो अपरिहार ये जो दोष है ये हटेगा नहीं फिर क्यों जिसके नियोग का विषय नहीं है उसको भी नियोग बनाना हो तो सभी कर्म जैसे ब्राह्मण का कर्म क्षेत्रीय नहीं कर सकता था किंतु नियोग का अभिषय भी नियोग होता हो तो वो कर्म करेगा ब्राह्मण का कर्म क्षेत्रीय करने लग जाएगा क्षेत्रीय का कर्म ब्राह्मण करने लग जाएगा तो दोष बना रहेगा ये कहा पूर्व पक्षी बोलता है तदपि शास्त्रेण विधि चेत पूर्वादी शंका करता महाराज आत्मज्ञान भी तो ज्ञानी को आत्मज्ञान कौन विधान करता है वो मानता ही नहीं मानता उसको आत्मज्ञान भी तो शास्त्र के द्वारा विधान होता है तो वो तो उसका नियोग कर रहा है ना वो शास्त्र शास्त्र का अधीन हुआ कि नहीं हुआ वो हो जाता है तदपि माने आत्मज्ञान अपनी जो आत्मज्ञान है अहम ब्रह्माष्ट ज्ञान हुआ वो तो शास्त्र के माध्यम से हुआ है उसको तो ज्ञानी भी तो वेद का अधिकार का अंतर्गत है ये पूर्वादि की शंका तदपि विधि है जो आत्मज्ञान अपनी तदपि मैं आत्मज्ञान जो आत्मज्ञान भी तो शास्त्र के द्वारा ही तो विधान होता है ना इति चेत ऐसा बोले उसी के आगे व्याख्या जो संग्रह वाक्य है यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्र ने कृता पूर्वादी व्याख्या दे रहा है उसका जैसे कर्म की कर्तव्यता शास्त्र के द्वारा किया गया है शास्त्र में विचार किया गया ये कर्म अमुक का है ये कर्म अमुक का है कर्म करना है शास्त्रीय कर्म का अधिकार शास्त्र में है दिया तथा उसी प्रकार तदपि माने तद माने तदपि माने आत्मज्ञान जो आत्मज्ञान है वह भी कर्मिणा शास्त्र ने विधि ये कर्मी को ही कहा शास्त्र मैंने गिरस्ताश्रमी के लिए शास्त्र ने कहा तत्पश्चैव कर्मी वही जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसी का ही उसी को ही शास्त्र के द्वारा आत्मज्ञान का विधान कर्म त्यागी का नहीं सन्यासी का नहीं आत्मज्ञान ये पूर्वाधिक बोलता है जैसे कर्म की कर्तव्यता इसको बताई उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान का भी विधान किया शास्त्र या पूर्वापर प्रसंग से वही दिखाई पड़ता है पूर्व में कर्म की चर्चा है यहाँ और आगे आत्मज्ञान की चर्चा है वो कर्म कर रहा हुआ व्यक्ति वो करता हुआ व्यक्ति होता है वह आत्मज्ञान के अधिकारी बनेगा आगे प्रसंग ऐसा ही है ये कहा तदपि शास्त्र विधि से पूर्वादि की शंका है यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्र कृता जैसे कर्म की कर्तव्य तो शास्त्र के द्वारा दिखाया गया किया गया है शास्त्र ने विधान किया है ठीक इसी प्रकार तथा तदपि मैंने आत्मज्ञान अभी तस्वीर कर्म जो कर्म कर रहा करता है कर्मी उसी कर्मी को शास्त्र विधीयत है शास्त्र के द्वारा विधि विधान है तो शास्त्र है वो भी तो उसी के विधान है वही करेगा इसे ज्ञान कर्म समुच्चय हो जाएगा यदि चेत सिद्धांत का न यदि ऐसा कहो तो नहीं हो सकता क्यों विरुद्धार्थ बोध का तो अनुपत्य शास्त्र विरुद्ध अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता क्यों विरुद्ध अर्थ कैसा कर्म करने के लिए मान जाति पाति मनुष्य आदि का भान होना चाहिए मैं मनुष्य हूं अमुक जाति का हूं इस अवस्था का हूं मेरे लिए कर्म है ये सारा अभिमान पूर्वक कर्म होता है और ज्ञान होगा ना हम मनुष्य हो न चदेव एक हो सबको बाध करके ज्ञान होगा तो दोनों एक साथ होना संभव नहीं सुहा सोदा भी करता रहे मैं ब्राह्मण हूं करके होता रहे और ना हम ब्राह्मण ये भी हो संभव नहीं है असंभव है यही कहते सिद्धांत कह रहे विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ति विरुद्ध अर्थ का बोधक शास्त्र नहीं कर सकता उसको कर्मी भी बनाना और आत्मज्ञान भी बनाना यह संभव नहीं आत्मज्ञान कर्म माने कर्मकांड पद्धति को बाध करके होगा वहां तो न हम मनुष्य भाव से होगा अहम आत्मा न हम मनुष्य और कर्म करने वाले मैं मनुष्य अहम मनुष्य मैं मनुष्य हूं मेरा ये कर्तव्य है ये कर्म होगा देहाभिमान पूर्वक कर्म होता है और देहाभिमान को बाध करके ज्ञान होता है तो ये विरोधी है दोनों बोध ऐसा ज्ञान नहीं करा सकता शास्त्र ये कहा विरुद्धार्थ बोधक तो अनुरोध शास्त्र विरुद्ध अर्थ का बोधक ज्ञान कराने वाला नहीं हो सकता क्यों आगे बोलते नहीं एक एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अर्थ का कहना कृताकृत संबंधित्व तद विपरीत बोधय तो सकते एक ही व्यक्ति को कृतकर्म अकृत कर्म दो प्रकार के कर्म का ज्ञान मैंने ये किया है ये करना है ऐसा ज्ञान भी मैंने किया और मैंने करना है माने व्याभिमान पूर्वक होना कृताकृत संबंधित तुम कृत कर्म का संबंधी बनाना एक ही व्यक्ति को अकृत कर्म का भी संबंध अकृत माने आगामी कर्म दोनों का कर्म तब विपरीतम से और कृताकृत से विपरीत जो आत्मज्ञान है आत्मज्ञान करना बोले तुम तो न सक्यम एक ही व्यक्ति को ऐसे बोध कराना संभव नहीं है यदि आत्मज्ञान होगा तो कृताकृत कर्तव्य नहीं लगा सकता और कृताकृत कर्तव्य बुद्धि है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता तो देहाभिमान पूर्वक कर्म होता है देहाभिमान को बाध करके आत्मज्ञान होता है ये विरोधी बात है एक, एक को हो नहीं सकता एक कहते जैसे शीतो ये विभाग जैसे एक ही अग्नि में ठंडा भी बताना गर्म भी बताना ये विरोधी बात नहीं हो सकती इसी प्रकार यहां भी है एक ही व्यक्ति को कर्म भी करवाना और आत्मज्ञान भी होना दोनों संभव नहीं है अब क्रम से होगा पहले कर्म किया होगा जीवन में बाद में आत्मज्ञान होना ये तो ठीक है जिस काम कर्म के माध्यम से अंतकरण की शुद्धि होगी उसके अंतकरण शुद्धि होने पर वेदांत वाक्य समझ में आ जाएगा अहम ब्रह्माष्टमी पहुंचेगा आत्मज्ञान होगा ये तो है कर्म तो हो जाएगा किंतु सम समुच्चय संभव नहीं है साथ साथ कुछ क्षण तो अहम ब्रह्माष्टमी हो जाए कुछ क्षण अग्नय स्वाहा इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा करने लग जाए संभव नहीं है देहाभिमान पूर्वक जो होना और देहाभिमान रहित होना दोनों ऐसे विरोधी हैं जैसे शीत और उष्णता अग्नि की शीतोष्णताम विभाग ने कहा टिप्पणी शीतोष्णा शीतोष्णताम इति बोधयितुम इति अपेक्षा द्वितीय कहते ये शीतोष्णताम है ना ये द्वितीय क्यों कहा कहते बोधयितुम के साथ के अन्वय करने के लिए ये बोधयितुम पद है इसको अन्वय करने के लिए द्वितीय दिया बोलते हैं शीतोष्णताम में जो द्वितीय है भाष्य में दिया वो बोधयितुम के साथ में अन्वय दिखाने के लिए ये टिप्पणी है शीतोष्णताम इति बोधयितुम इति एतद अपेक्षया द्वितीय ये जो बोधयितुम की अपेक्षा से या शीतोष्णताम द्वितीय अभिव्यक्ति लगाई गई है भाष्य और सक्यम के साथ करेंगे तो द्वितीय अभिव्यक्ति नहीं होगी ये कह रहे सक्यम इति के भावे कृत्य प्रत्यय भाव में है कृत्य प्रत्यय है वो सखी सहस्य सूत्र से क्यप होकर के सत्य बना हुआ है ये कहा भाव में है वो और सक्यम के साथ में शीतोष्णताम का अन्वय नहीं होता वो बोधय तो उनके साथ में अन्य हो ये बता ठीक है सर्व सन्यास सन्यासे नापी आत्मा ज्ञातव्य ज्ञान स्थिति प्रतीयते तत्पर इत्यर्थ जो पारिव्राज्यादि शास्त्र जो वृत्थाय भिक्षाचरण इत्यादि ज्ञान की स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए पूर्वादि ने कहा था तो क्या स्तुति होगी उसकी ज्ञान की कहते हैं सर्व संन्यासे भी सब कुछ त्याग करके भी सब कुछ बलिदान करके भी आत्मा ज्ञातव्य आत्मा को जानना चाहिए यह आत्मज्ञान की प्रशंसा ऐसा होगा सर्व संन्यासेना भी संपूर्ण त्याग करके भी आत्मा ज्ञात हुई ज्ञान स्तुति प्रतीयते उस वाक्य में ज्ञान की प्रशंसा दिखाई पड़ती किस वाक्य में ये जो व्युत्थाय अथ भिक्षाचार विचरती आदि वाक्य तत्पर इत्यर्थ वो ज्ञान की स्तुति पर वाक्य है तत्पर माने अर्थवादित्व विशेषत्व अभिप्राय माने अर्थवाद होने से ज्ञान की स्तुति परक है हाँ, विशेष है स्तुति ज्ञान स्तुति ज्ञान स्तुति में स्तुति विशेष है विशेष का अभिप्राय से बोल दिया वो ये कहा आगे विधित्वपि कर्म अनधिकृतान पंगु अंध पंगुआदि विषयत्व एवं इत्याह अगर विधि भी मानेंगे ये व्युत्था या भिक्षाचर्य चरंती को विधि वाक्य मानेंगे विधान है शास्त्र दे रहा है संन्यास ग्रहण करे भिक्षाचरण करे ऐसा कह रहा है ये ये लट दिख रहा है कि तो लिंग के अर्थ में है विधि है ऐसा मानेंगे तब भी पूर्वादि बोलता है तो संन्यास में अधिकारी ने उनके लिए कहा है अगर विधि मानेंगे भिक्षाचर्य तरंती विधि मानते हैं तब भी उसको हम कहाँ लगाएंगे जो संन्यास अधिकारी ने कौन विधि टोपी यद्यपि तो विधि वाक्य भी नहीं है अगर विधि वाक्य मान भी लेंगे व्यथा अथवा भिक्षाचरण चरण तो विधि वाक्य मान लेंगे तब भी कर्म अनधिकृतान जो कर्म में अधिकारी नहीं है हाँ, अंधा व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता और लंगड़ा व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता यज्ञ मंडल के प्रदक्षिणा करनी पड़ती है और अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता वहां घृता आज्ञावेक्षण करना होता है पिघला हुआ घी में अपना पत्नी के साथ में उसको छाया देखना होता है घृत छाया देखनी पड़ती है तो अंधा व्यक्ति को घृत छाया नहीं देखनी इसे अंधा व्यक्ति वैदिक कर्म में अधिकार नहीं है उसका और लंगड़ा व्यक्ति यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना पड़ेगा कर नहीं सकता इसलिए अधिकार नहीं है जो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म में अधिकारी नहीं है उनके लिए संन्यास के लिए कहा था विकसित है विक्षाचरण करें यह है जो कर्म में अधिकारी है उनको तो यावत जीवत अभिनोत्र जुया यह बात यह है यह पूर्वाजी का कहना है विदित तो भी विधि मानने पर भी यदि तो विधि भी नहीं है वो तो ज्ञान की स्तुति के लिए है वो वाक्य अगर विधि मान भी लेंगे तब भी कर्म अनधिकृतान जो कर्म में अधिकारी नहीं है उनको अंध पंगुआदि विषय अंध है पंगु है लंगड़ा है इत्यादि विषयत्व एवं इत्यादि उसमें विषय करता है वाक्य कौन वित्थाया अथ भिक्षा चरण कर दिया है तो ने कहा था ठीक है मैं टिप्पणी पांच की नानू अर्थवादत्व विधि प्रत्यय थे इति आशंका है सिद्धांत ने शंका उठा दी अर्थवाद मानेंगे तो फिर ये विधि नहीं होगा तो कहते विधि मान भी ले पूर्वादी बोलता है मान भी ले तो फिर भी अनधिकारी के लिए है जो कर्म में अधिकारी नहीं है उनके लिए संन्यास कर्म में अधिकारी को तो कर्म करना है यावत जीवित अग्नपुर दिया ये बता अनधिकृतार्थ होगा बोल दिया था कहा इसलिए आगे पूर्वादि बोलता है तस्मात न अकर्मनिष्ठा विद्या ये जो आत्मज्ञान है अकर्मनिष्ठ नहीं है संन्यासी निष्ठ नहीं है कर्म त्यागी के पास नहीं होती आत्मज्ञान तस्मात ये पूर्वादि ने अपने वाक्य को प्रसाद किया तस्मात न अकर्मनिष्ठा विद्या विद्या माने आत्मज्ञान अकर्मनिष्ठ नहीं कर्म त्यागी निष्ठ नहीं है कर्म त्यागी में नहीं है आत्मज्ञान किंतु कर्म कर्मनिष्ठा जहां कर्म हो रहा है उसी में आत्मज्ञान है हर तरह से देखा यहाँ के प्रसंग देखा पूर्व में कर्म के प्रसंग आगे आत्मज्ञान के प्रसंग है वो कर्म करने वाला व्यक्ति की चर्चा था सब देखा किंतु कर्म निष्ठा तत्संबंधी निजा और कर्म संबंधी भी है आत्मविद्या निष्ठा है कर्मी में ही आत्मज्ञान होना क्या होना है जो कर्मी व्यक्ति है उसी में आत्मज्ञान होना है कर्मी निष्ठा है कर्मी में रहने वाला है और कर्म के साथ संबंध भी कर्म के साथ संबंध है जहां कर्म होगा वहीं आत्मज्ञान होगा ये पूर्वाधि का ये खिताम तदे तद सिद्धांति परिहरित इतना लंबा पूर्व पक्ष हो गया था अब उसके सिद्धांति खंडन करते हैं सिद्ध अब आगे सिद्धांत में करना है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पूर्व पक्ष आएगा बाकी सिद्धांत है ये कहा परिहरित न कहा सिद्धांत न परमार्थ विज्ञान फलादर्शन क्रियानुपत्य कहा परमार्थ तत्व का दर्शन हो जाने पर आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया है आत्म साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्म भाव में पहुंच गया तो कर्म का फल नहीं दिखता उसको स्वर्गादि फल नहीं दिखता स्वर्गादि फल तो देहाभिमान काल में था मैं देहा देह विशिष्ट हूं इस देह में रहकर कर्म कर रहा हूं उस देह में बैठ के फल भोगूंगा देहाभिमान काल में होता था क्रिया कर्म नहीं सकता उस काल में फल नहीं दिखाई पड़ रहा कर्म का फल नहीं दिखाई दे रहा कर्म को कर्म नहीं कर सकता इसलिए आत्मज्ञानी कर्म नहीं कर सकता ये सिद्धांत ने संक्षेप में बताया इसका आगे संग्रह वाक्य विस्तार करेंगे ठीक है एवं ही कर्मनिष्ठा विद्या से इस प्रकार कर्मनिष्ठ विद्या हो सकती थी सिद्धांत कह रहे हैं एवं ही जैसे आपने कहा कर्मनिष्ठा कर्म में ही आत्मज्ञान है कहा तब हो सकती थी कब यदि विदिशो भी कर्मानुष्ठान से यदि ज्ञानी भी कर्मानुष्ठान करता तब तो कर्मनिष्ठ आत्मविद्या हो जाती यदि ज्ञानी भी कर्म कर्म करता उसका अधिकार होता कर्म करने का तब कर्मनिष्ठ हो जाती आत्मज्ञान आत्मविद्या किंतु विद्वान कर्म नहीं करेगा इसलिए कर्मनिष्ठ नहीं है वो ये कहना एवं ही कर्मिष्ठा आप इस प्रकार आप जिस प्रकार से बोल रहे थे कर्मनिष्ठ माने गृहस्थ निष्ठ कर्मकांडी पुरुष में निष्ठ रहने वाली हो सकती थी विद्या कब यदि विदिशो भी कर्मानुष्ठान यदि विद्वान को भी माने ज्ञानी को भी कर्म का अनुष्ठान होता तब तो कर्मनिष्ठ हो जाती किंतु तदपि प्रयोजनार्थितया वा सात काम्य ही वा योग बला वा प्रभा कर्म थे नित्य कर्म कहते उसमें भी एक प्रश्न आएगा कर्मनिष्ठ मानने पर भी क्या प्रयोजनार्थिता क्या प्रयोजन चाहता है वो कोई फल चाहता है कर्म का फल चाहता है इसलिए कर्म करना है प्रयोजनार्थिता है क्या अच्छा, काम्य जैसे काम्य कर्म में काम्य कर्म दृष्टांत जैसे काम्य कर्म में प्रयोजन फल चाहता है इसलिए काम्य कर्म करता है स्वर्ग काम देता ये क्यों क्यों कर रहा है पहले स्वर्ग की इच्छा है उसकी इसलिए क्यों करता है वो काम्य कर्म है काम्य काम्य कर्म के समान माने फल की इच्छा है इसलिए कर्म करता है ऐसा है अथवा योग बलात्मा प्रभाकर मत जय अथवा प्रभाकर के मत है अग्निहोत माने वो बोलता है प्रभाकर बोल नित्य कर्म का फल नहीं है किंतु तो न करने पर दंड है संध्या आदि अग्निहोत्र आदि करने पर कोई फल नहीं है प्रभाकर का कहना है और न करने पर दंड है उसको पाप लगेगा ऐसा है तो दो विकल्प किया कर्मनिष्ठ जो कहा आपने आत्मविद्या उसमें भी क्या है तद प्रयोजनार्थिता क्या आत्मज्ञान का कोई फल चाहता है वो इसलिए कर्मनिष्ठ है कर्म का कोई फल चाहता है जैसे काम्य कर्म काम्य कर्म का फल होता है इस प्रकार यहां भी कोई कर्म है कर्म का फल है कोई अथवा नियोग बलात् शास्त्र में बोल दिया अग्निहोत्र याद करना पड़ेगा हाँ। वो हवन करने से कोई फल नहीं है प्रवाह करके मत ऐसा है नियोग बलात् शास्त्र की आज्ञा इसलिए प्रभाकर मत ही जैसे प्रभाकर मत में अग्निहोत्रादि करने का फल नहीं होता किंतु न कर्म में दंड मिलेगा आपको नित्य नित्य कर्म में जैसे माना है ऐसा क्या है तत्र नाट्य इत्या प्रयोजनार्थिता तो नहीं मान सकते हैं क्यों ज्ञान होने पर किसी प्रयोजन के अर्थी नहीं हो किसी फल की अर्थी है ही नहीं हो यही कहना चाहते हैं नाट्य कहा परमार्थ कहा परमार्थ विज्ञान हो गया उसको अब लौकिक अर्थ क्यों चाहेगा वो परमार्थ विज्ञान है ने क्रिया क्रिया का फल नहीं दिखता उसको इसलिए क्रिया नहीं होता कर्म नहीं हो सकता ये बताया ठीक है टीका हमें कहते हैं संग्रह वाक्यम विवरण निषेध्य अध्याहार पूर्वक नयर्थम विवरण कहते संग्रह वाक्य था परमार्थ विज्ञान फला दर्शन क्रिया रूपत्य उसकी व्याख्या करते हुए निषेध्य जो अध्याय है निषेध्य क्या था आपका न्याय के द्वारा निषेध करना है ज्ञानी कर्म नहीं करेगा तो निषेध्य का अध्यार पूर्वक नय का अर्थ का लेते हैं जो न करके कहा था नय का जो अर्थ का व्याख्या करते हैं कहा यद उत्तम एक भाष्य में कहा पूर्वादि ने जो कहा था कर्मिणा एवं आत्मज्ञान कर्म संबंधी च इत्यादि तन न कहा पूर्वादि ने जो कहा था कर्मी को ही माने गृहस्थी को ही आत्मज्ञान होता है और कर्म संबंधी होता है आत्मज्ञान ये दो बातें कहा था वो नहीं हो सकता सिद्धांत ने बताया टीका में देखें <clears throat> कर्मांग उक्त उक्तादि आश्रम इत्यर्थ कर्म संबंधी का अर्थ कर्म का जो अंग उक्त प्राण विज्ञान आदि प्राणोपासना आदि है उसका आश्रय ये लेना है तीन की टिप्पणी बृहति सहस्त्राख्य शस्त्रात्मक कर्मांग अपपत्तुम इत्यर्थ बृहति सहस्त्राख्य नाम का कर्म था शस्त्र नाम का कर्म था जो गीति प्रधान ने गीति रहित ऐसा कर्म चल मंत्र का कर्म चल रहा था उस कर्म के अंग में जुड़ा हुआ आत्मज्ञान उस कर्म में जुड़ा हुआ आत्मज्ञान ऐसा अर्थ करना चाहते हैं ये ये होगा अथवा परमार्थ इति वाक्यांशम विवरण जो परमार्थ शब्द था परमार्थ विज्ञान कहा था परमार्थ का अंश का व्याख्या करते हैं परम कहा परमार्थ क्या चीज है जो परमार्थ शब्द का व्याख्या करते हैं परम ही आप्तकामम सर्व संसार दोष वर्गम ब्रह्म अहम अस्मी की आत्मत्व विज्ञान कृतेन कर्तव्य न प्रयोजन अपश्यतो आत्मनो अपश्यता फलादर्शन नोपद्य भाषण में कहा तो परमार्थ शब्द का अर्थ इतना हो जाता है ठीक है भाष्य में व्याख्या किया परम ही आप्तकामम सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्म तो पर ब्रह्म कैसा है आप्तकाम है कुछ चाहिए नहीं उसको उसको कुछ भी नहीं चाहिए अप्राप्त वस्तु की इच्छा से कामना होती है या उसको अप्राप्त कुछ भी नहीं है व्यापक है इसलिए उसकी कामना नहीं है परम ही आप काम है परमात्मा सर्व संसार दोष कोई संसार दोष नहीं वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कोई दोष नहीं संसार धर्म से रहित है ऐसा ब्रह्म अहम अस्मृति इति आत्मत्व विज्ञान ऐसा ज्ञान हो गया जिसको मैं वही ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान होने पर कृत्य न कर्तव्य न किया हुआ कर्म अथवा किए जाने वाला कर्म दो प्रकार के कर्म पूर्व कर्म अथवा आगामी कर्म दोनों कर्मों का प्रयोजन में आत्मा अपश्यता अपना प्रयोजन न दिखता हुआ उन कर्मों का फल न दिखता हो न देखता हुआ फलादर्शन क्रिया बदल देगा फल जब नहीं दिखाई पड़े तो कर्म नहीं करेगा वो आत्मज्ञान होने पर एक कहा वो ब्रह्म भाव में हो ये कहा ठीक है अर्थ प्राप्त्यर्थम अनर्थ निवृत्त्यर्थम व कर्म सिया कर्म किस लिए होता है अर्थ की प्राप्ति अनर्थ की निवृत्ति के लिए कर्म करता है व्यक्ति इष्ट वस्तु की प्राप्ति अनिष्ट वस्तु की निवृत्ति ये दो के लिए कर्म करता है अर्थ प्राप्त्यर्थम अनर्थ निवृत्त्यर्थम बा कर्म कर्म किस लिए करेगा वो ज्ञानी अर्थ प्राप्ति के लिए या अनर्थ निवृत्ति के लिए उसके पास अर्थ अनर्थ कुछ है ज्ञानी के पास दोनों नहीं है ये कहना चाहते हैं वो किस लिए करेगा कर्म विकल्प करते हैं अर्थ प्राप्त अर्थम अनर्थ निवृत्त कर्म नोभयमति वक्त विशेषण विशेषण इसलिए दोनों नहीं हो सकता ज्ञानी इसलिए दो विशेषण दिया क्या दिया आप तक आमन दिया अर्थ प्राप्ति उसके आवश्यकता नहीं है और अनर्थ की निवृत्ति में भी सर्व संसार धर्म वर्जित है वो इसलिए अनर्थ निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं उसकी अनर्थ वही तो दोष थे दोष आई नहीं वहां और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति भी नहीं अर्थ प्राप्ति उसकी आवश्यकता नहीं क्यों आम है वो ये दो विशेषण दिया वो पर ब्रह्म का विशेषण है अब अप्तकाम सर्व संसार दोष वर्जित ब्रह्म को अहमअस्मी करके बैठा हुआ वो ब्रह्म मैं हूं करके बैठा हुआ व्यक्ति है ये कहा अर्थ प्राप्ति अर्थम अनर्थ निवृत्ति अर्थम व कर्म कर्म तो इसलिए होता है ना अर्थ प्राप्ति के लिए अनर्थ निवृत्ति के लिए किंतु तो यहाँ लोभयम तो विशेषण ये दोनों यहाँ होने नहीं सकता ज्ञानी के लिए क्यों वो आप तक काम सर्व संसार दोष वर्जित ब्रह्म को अपना स्वरूप मान के बैठा हुआ है ये कहा दोष पदेना सर्व संसार दोष वर्जित दोष पद से क्या लेना राग भावे ना भी प्रवृत्ति अभाव हो सोचेगी कहते हैं प्रवृत्ति के लिए देखो राग द्वेष भी प्रवृत्ति होती है राग से प्रेम के कारण प्रवृत्ति होती है और द्वेष के कारण मारने जाता है प्रवृत्ति होती है राग द्वेष भी प्रवृत्ति के कारण होते हैं राग द्वेष दोनों में तो तब भी प्रवृत्ति नहीं कर्म क्यों करेगा कर्म के कारण ये दो और हो जाते हैं दोष ये भी है राग द्वेष राग के कारण कर्म होगा इनके साथ मेरा मित्रता है ये है मैं कुछ करूंगा और शत्रु है तो मारने के लिए जाऊंगा तो राग द्वेष भी कर्म के प्रवृत्ति के कारण है किंतु वहां राग द्वेष नहीं है ये कहा राग द्वेष अभाव है ना भी राग द्वेष का अभाव होने के से भी प्रवृत्ति अभाव चाहिए दोष पद के द्वारा प्रवृत्ति का अभाव सर्व संसार दोष वर्जितम कहा था उसमें राग द्वेष न होने के कारण भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ये कहा प्राग अनुष्ठित कर्मा भी असंबंध है जब पहले अनुष्ठित कर्म के साथ भी उसका संबंध नहीं है ज्ञान ज्ञान से पूर्व काल में जो कर्म था उसमें भी उसका संबंध नहीं है न होने पर कर्तव्य में संबंध तो दुरापास था और कर्तव्य जो आगामी कर्म तो दूर से हट गया कहां से करेगा वो जो पहले वाला किया हुआ कर्म का भी साथ ही संबंध नहीं है तो आगामी कर्म क्यों करेगा क्या संबंध होगा उसका इसलिए ज्ञानी के साथ कर्म का संबंध हो नहीं सकता ये कहा दुरापास गौतम कृतेन कर्तव्य न प्रयोजन आत्मनोपस्थित इत्यादि कहा था टिप्पणी प्राग चार की टिप्पणी कहा योग्यता बलाद अकृत कर्तव्यतया आपात्य मानत्व कृतेन प्रयोजन अपश्यत इति असंगता आशंका पूर्वादि बोलता है महाराज संबंध क्या पहले वाला तो जो कुछ हो गया हो गया आगे वाले के साथ ही संबंध होना चाहिए संबंध होना न होना आगे वाले कर्म के साथ पहले वाले के साथ क्या संबंध होना यही कहते हैं योग्यता बलाद योग्यता किसके साथ संबंध आगे आगामी के साथ हो सकता है अकृत अकृत कर्तव्यतया जो अकृत कर्तव्य अभी किया नहीं उसी के साथ कर्तव्य होगा आपाद्य मानव्य उसी के होना चाहिए कर्तव्य रुषि होने पर कृतेन प्रयोजन अपश्यता इति असंगतम तो कृतेन प्रयोजन असंगत क्यों कहा भाष्यकार ने असंगत है ऐसा शंका करके कहा प्राप्त करके कहा ठीक है बोला प्राग अनुष्ठित करना भी असंबंध है ये दिखाना चाहते हैं पहले किया हुआ कर्म से भी जब संबंध नहीं है उसका तो आगामी कर्म के साथ कैसे संबंध होगा करेगा ही नहीं कर्म वो जो पहले कर चुका है ज्ञान के पहले उसके साथ भी उसका संबंध नहीं है तो आगामी कर्म करना संभव ही नहीं कहां से संबंध होगा ये कहने के लिए एक दिखाया कहा कि वक्तुम कृत्य नहीं द्वितीय संकत है दूसरा बोलता है फल न देखने पर भी कर्म करेगा वो फलादर्शन भी नियुक्त करो थी फल तो नहीं दिखता आत्मज्ञानी को कोई आपका है और दोष रहित है निवृत्ति के लिए भी कर्म नहीं प्रवृत्ति के लिए भी कर्म नहीं है किंतु फिर भी शास्त्र का आदेश है यावत जीवित अवरोध जीवा इसलिए कर्म करेगा ऐसा कहे तो सिद्धांति इसके उत्तर देंगे समय हो गया है या रखते थे ओम मद ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में पाथी प्रतिष्ठित आदि मास्थ श्रुतं मे मा प्रहासीदनेन भूतेन होरात्रान् सम्प्रदामि कृतं वदिष्यामि सत्यं अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ